तृतीय मंत्र की व्याख्या हुई शंका है इसी मंत्र में आया येन रूपम रसंगंधम शब्दान स्पर्शान से मैथुनात् एते नैव विजानाति विज्ञान स्वभाव से जानता है किंतु लोक में तो इसे प्रसिद्ध नहीं देहादि विलक्षण कोई है उसके द्वारा मैं जानता हूँ इसे तो प्रसिद्ध नहीं देहादि संघात में अहम बुद्धि में ही जानता हूँ सब लोग कहते हैं न तो एवं देहाति संघात से अभी शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषाद विज्ञेत्व च न युतम विज्ञातृत्वम देहादि संघात भौतिक है देह इन गुण इंद्रिय इंद्रियादि सब कुछ जितने है वो तो शब्दादि स्वरूप है यद्यपि भूत में शब्द रूप रसादि गुण है तो गुण गुण में अभेद करके वो शब्द आदि स्वरूप कहा गुण न्याय मत में तो द्रव्य से भिन्न गुण समवाय समस्या उत्पन्न होता है वेदांत में जैसे तंतु से पट अलग नहीं है इसी प्रकार द्रव्य से गुण अलग नहीं है तंतु के बिना पट नहीं रहता है इसलिए तंतु से भिन्न पट नहीं है इसी प्रकार किसी द्रव्य में जो गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता है द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं है अद्रव्यात्मक नहीं है उभय भी नहीं तो उसको अनिर्वचनीय कहते हैं तो उसमें अभेद उपचार होता है नीरो घट प्रयोग होता है शुक्ला पट तो गुण गुण में अभेद प्रयोग करके ये देहादि संघादि शब्द आदि स्वरूप है रूप सुगंध स्पर्श आदि है विज्ञेय तो अविशेषाच अरुज्ञेय है जिस प्रकार घटपट आदि ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं है घट घट अपने को नहीं जानता ना पट को देखता है ना दूसरे को जानता है इसी प्रकार ही देह कार्यकरण संघात देह इंद्रिय आदि जो समुदाय है वो तो विज्ञ है ज्ञाय ज्ञ होने के कारण विज्ञ तो अविशेषाच घट आदि में जैसे विज्ञत्व है इसी प्रकार समान है विज्ञत्व देह आदि में जो विज्ञ होता है वो ज्ञाता नहीं होगा ज्ञाता तो ज्ञेय से भिन्न होता है इसलिए देहादि संघात भी न उत्तम विज्ञातृत्वम देहादि संघात में भी विज्ञातृत्व न उत्तम यदि देहादि संघात रूपादि आत्मक सन रूपादि बीजान याद बाह्यापि रूपादे अन्योन्यम स्वम सम रूपम च बीजानि हो यदि देहादि संघात जाने ज्ञाता हो हे रूपादि आत्मक गुण गुण अभेद करके उस शब्द स्पर्श रूपादि गुणात्मक है तो भी ने बीजानियात देहादि संघात रूपादि को जाने यदि देहादि संघात रूप रस घटपट को जाने तो बाह्यापि आदि अन्योन्यम सम सम रूपम च बिजानियो बाहर में रूप है घट का रूप है पट का रूप है परस्पर घट का रूप पट रूप को देखे पट रूप घट रूप को देखे अतः अपने आप को घटपट को देखे घटपट घट को देखे अन्वन्यम सम स्वरूपम च पट रूप को देखता है कोई अपने को देखे ऐसे जाने यदि रूपादि आत्मक होता हुआ देहादि संघात ज्ञाता होता तो घटपट रूप रस गंध आदि भी ज्ञाता हो दूसरे को अपने को जाने ऐसा नहीं जानता है न चेतदस्ति ऐसा नहीं होता है इसलिए बाहर जिस प्रकार रूप रस घटपट आदि ज्ञेय ही है ज्ञाता नहीं है इसी प्रकार कार्यक्रम संघात भी ज्ञेय है ज्ञाता नहीं है तस्मा देहादि लक्षणांश रूपादिन एतेनैव देहादि व्यतिरितेनैव विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति लोक इसलिए लोक ये देहादि से विलक्षण आत्मा से ही जानता है देहादि लक्षणांश रूपादिन देहादि सर्प रूपादि घटपट आदि को एतेनैव विजानाति एतेनैव विज्ञान स्वरूप आत्मा से जो कि देहादि व्यतिरित है देहादि संघात से विलक्षण है उसे जानता है विजानाति लोक यथा येन लोक लोह दहति सो अग्निर्ति तद्वत जिससे लोह में दाहकत्व है वही अग्नि लोह दहति दहनम करोति दाह करने वाला जिसके कारण वो अग्नि जल भी गर्म हो गया तेल भी गर्म हो गया कदे स्पर्श नहीं करो जला देगा जलाने वाले तो अग्नि है अग्नि के कारण दाह करता है जिसके कारण दाह करता है लोह हो जल हो तेल हो घी हो कोई वही अग्नि है इसी प्रकार जिसके द्वारा देहादि संघात जानता है देखता है जीव वही चेतना देहादि से विलक्षण है टीका में हो गया था पूरा यदि ही हो गया था हाँ। पहले टीका में है मूढ़ानाम व्यतिरितेन आत्मना देहादेर वेद्यत्वम यद्यपि न प्रसिद्धम अविवेकी के लिए प्रसिद्ध नहीं देहादि से भिन्न भिन्न कोई आत्मा है उसे ज्ञेय होता ऐसा तो नहीं तथा भी विचार का नाम प्रसिद्ध है ये विचार करते जानते हैं ज्ञेय से भिन्न होता है ज्ञाता देहादि ज्ञेय है इसलिए व्यतिरित नहीं वेद्यतम देहादि पदार्थ ज्ञेय होने के कारण अपने से भिन्न से जाना जाते हैं ततो यश शब्देन प्रसिद्धवत परामर्श न विरुद्धते सत्य में कहा ये न भी ये न रूपम रसम जानता है प्रसिद्ध जैसे परामर्श किया इति परिहृति न त्वेवम देहादि संघातेन दही का शब्दादयो न स्वात्मानम अन्यम से बीजाने हो शब्दादित्वा दृश्यत्वाच बाह्यवत देह में होने वाले शब्द रूप रस आदि है अपने आप को जानते हैं या दूसरे को जानते हैं न स्वात्मानम अन्यं च विजान अपने को ना दूसरे को जानते हैं शब्दादित्वा दृष्टि हेतु हो गया शब्दादित्वम च दूसरा हेतु सुदृश्यत्वात बाह्यवत बाह्य शब्द आदि अपने आप को नहीं जानते दूसरे को नहीं जानते बाह्य दृश्य पदार्थ रूप रस घटपट आदि अपने आप को नहीं जानते दूसरे को नहीं जानते इसी प्रकार देह आदि भी देह इंद्रिय आदि ये भी शब्द आदि है गुणात्मक है त्रिगुणात्मक है सब न अपने आप को जानेंगे ना दूसरे को जान सकते विपक्ष बाधक महा यदि सा नहीं मानेंगे यदि देहादि संघात रूपादि होकर होकर के रूपादि को घटपट को जाने तो बाहर रूप भी रस को ग्रहण करेगा रस रूप को ग्रहण करेगा घट पट को देखेगा पट घट को देखेगा कभी कभी अपने आप को देखे ऐसा नहीं होता है इसलिए यथा यह न लोह दहति सो अग्निति तद्वत आत्मनो अभिज्ञम किमत्र अस्मिन लोके परिशिष्यते जिसे आत्मा से सब को जानता है लोक उसे आत्मा का अभिज्ञेय आत्मनो अभिज्ञेयम अवग्रह चाहिए आत्मन अभिज्ञम किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते इस लोके में अभिज्ञ क्या और रहा सब कुछ उसका ज्ञेय है न किंचित तो परिशिष्यते सब उसका ज्ञेय है एक दृग रूप चेतन है उसे भिन्न सब ज्ञेय है सर्वमेव तो आत्मना विज्ञेयम सब कुछ आत्मा से ज्ञेय होता है आत्मा एक है दृग रूप चेतन उसे के द्वारा सब ज्ञेय है आत्मनो अभिगेम न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञ जिस आत्मा से भिन्न जिस आत्मा का अभिज्ञ कुछ भी नहीं रहता है आत्मा से सब विज्ञेय अन्य कोई विज्ञ नहीं रहता है आत्मा का विज्ञान नहीं हो कुछ रह गया ऐसा नहीं आत्मा सब कुछ जानने पर सर्वज्ञ हो गया एतद वितत यही वह एतद वितत किंतत तद यह नचिकेत्र सा पृष्ठम नचिकेता ने नचिकेता ने पूछा था देवादि देवादि विरपि विचिकित्सितम पुरा देवताओं के द्वारा संदेह हुआ था ये एवं प्रति विचिकित्सम विचिकित्सा अस्ति इति के मरने के बाद आत्मा है नहीं संशय आगे कहा था अन्यत धर्माद अधर्मात धर्मादि भी अन्यत धर्म अधर्म से विलक्षण यद विष्णु परम पदम विष्णु परम पदम यस्मात् परम नास्ति जिसे पर कुछ ही नहीं साकाष्ठा सा परागति सबसे विलक्षण आत्म तत्व यही वह है जो नचिकेता ने पूछा था जो देवादि को का संशय का विषय है जो धर्म अधर्म तीनों काल से विलक्षण है जो विष्णु पर व्यापक परमात्मा का परमम पदम निरतिशय स्वरूप यस्मात् परम नास्ति जिससे पर कुछ ही नहीं सब का निषेध करने पर वो अधिष्ठान एक रहता है निरत से सूक्ष्म व्यापक तद्वै एतद अधिगतम यही ज्ञात हुआ तो एतद्वै तत् अति सूक्ष्मत्वाद दुर्विज्ञमिति इतमेव अर्थम पुनः पुनराह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञेयम प्रयत्न पूर्वक निरंतर उसका चिंतन करने से ज्ञान होगा प्रमाद से नहीं होगा दुखे न विज्ञम पहले दुख तो लगता है इंद्र के पीछे भागने पर अच्छा लगता है कुछ नहीं है बैठ कर मनोराज्य करके खुश होता है भूखा है नहीं तो मां करे कुछ ले आया आटा सोचता सोचता बड़े खुश होकर के मकान बना देता शादी कर लेता है बहुत कुछ कुछ नहीं होकर के मनोराज्य में खुश और कुछ है तो इंद्र के पीछे भागना पर और खुश है ये जो आनंद है विषय के पीछे भागना मन भागना ऐसे नहीं आत्म तत्व जानने की उसको रोकना पड़ता है इसलिए दुर्विज्ञ का दुख और कुछ नहीं है इंद्र के स्वाभाविक प्रवाह को रोकना इंद्र के मन के जो स्वाभाविक प्रवाह है गति है उसको रोकने से ही आत्म तत्व का ज्ञान होगा पहले पहले बड़ा कठिन होता है बच्चा भागना चाहता है खेलने के लिए इधर-उधर भागना होता है उसको रोकते हैं वो पहले कठिन होता है किंतु यदि उसके पिता माता की आज्ञा पालन कर रुकता है मानता है करता है आगे उसके लिए अच्छा होता है इसी प्रकार पहले पहले इंद्रिय के पीछे भागने से चाहता लगता है यही तो करते हैं पशु पक्षी भी वो आगे पीछे कुछ ना नहीं इंद्रियों को रोकने का नहीं किंतु मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद वही करेगा पशु पक्षी जैसे खा पी कर मर जाएगा व्यर्थ है इंद्र का स्वभाव है दौड़ना मन का स्वभाव है बाहर जाना उनको रोक करके आत्म तत्व सत असद विवेक करके एक सदरूप ब्रह्म उसको जानने के लिए प्रयास करने से ही ज्ञेय होता है नहीं तो दुर्विज्ञ सूक्ष्म होने के कारण बाह्य रूप से घटपट आदि सबको दिखता है उसे सुख मिलता है खुश होते सुख मिलता है करके विचार नहीं कर पाते सुख कहाँ से आया यदि बाह्य वस्तु में सुख है हमेशा बाह्य वस्तु से सुख मिले भोजन करने पर सुख मिलता है ना नहीं हाँ मिलता है जिसको स्वास्थ्य खराब पेट खराब उसको भोजन पास में रखो देखने ही तो पेट खराब होगा देखने ही डर लगेगा हटाओ यहाँ से नाम सुनने की इच्छा नहीं होगी पेट बहुत खराब है तो भोजन का नाम कोई पूछेगा ये खिलाओ हमको लाएंगे हमको लाएंगे बार बार मना करे छोड़ो कुछ नहीं चाहिए पेट भर कर खा लिया पेट खराब नहीं पेट भर कर खा लिया फिर कोई ला कर दिया और थोड़ा खा लीजिए कितने खा लोगे फिर मन मना करना पड़ेगा हमेशा नहीं होता है कभी भी जब ज़्यादा खराब होता है तो वही भोजन खराब करता है विषय बन जाता है इसलिए है सुख नहीं है विषय से अपनी तृष्णा है खाने की इच्छा है थोड़ा खा लिया वो लगता है कि उसी से सुख मिला अंतकण में चांचल्य है किस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है प्राप्त हो जाने पर लगता है कि हमको सब मिल गया बड़े कृतकृत्य हो गया बच्चे जैसे रोता है भूख से उसको खिलौना डाल दिया लकड़ी का प्लास्टिक का वो खुश होकर पकड़ करके लेकर के मुख में लगाता है रोना भूल जाता है सोता पूर्व पदार्थ मिल गया थोड़ी देर मुख में रहने के बाद कितने देर में क्षुधा मिट जाती है मालूम है भूख मिट जाती है ना नहीं मुख में लगाने से फिर फेंक करके रोता है पहले तो खुश होकर के इसी प्रकार है कुछ मिल जाता तो खुश हो जाता है ऐसा नहीं आत्म तत्व को विचार करके प्रयत्न कर से जानता है इसलिए दुर्विज्ञ कहा गया सूक्ष्म होने के कारण स्थूल पदार्थ नहीं थोड़े विचार करके प्रयास करे सहत से विचार करे और ये यही विशेष दुर्विज्ञ दुख इसलिए है स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके सब इच्छा को छोड़ेंगे इंद्रिय मन को जीतेंगे तभी ज्ञेय होता है यही दुख होता है दुर्खे न विज्ञेय ऐसा मान करके समझना भी कठिन होता है इंद्रियों को रोकना तो बड़ा कठिन पीछे है शब्द सुन करके अर्थ समझना भी कठिन है और बहुत बहिर्मुख है तो शब्द सुनने की इच्छा नहीं क्या सुनने से होगा आत्मा तो एक ही हम तो मुक्त है संन्यास हो गया और क्या करना इसलिए ये दुर्भिज्ञ कहा गया सूक्ष्म है उसको श्रवण करने की भी इच्छा कम की होती है प्राप्त होता है कम को दुर्भिज्ञ भी मत्वा एतमेव अर्थम पुनः पुनराह इसको ही बार-बार कहते हैं अंतकण शुद्ध हो जाए अत्यंत वैराग्य हो जाए तो महावाक्य के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा किंतु नहीं होता है तो आगे आगे और चिंतन करते श्रवण करो मनन करो निधि ध्यान करो ऐसे करते करते नहीं होता है तो और ग्रंथ और ग्रंथ सारे अष्टादश पुराण में उससे आत्म तत्व को बताने के लिए ही है नाना आख्यायिका के माध्यम से सरल कथा के माध्यम से उसी को उपदेश करना है यही तात्पर्य है तो इसलिए तमेवार्थम पुनः पुनः श्रुति भी इस अर्थ को बार-बार कहती है जब तक तो ज्ञान नहीं होता तब तक तो बार-बार कहती है तब तक तो सुनते रहे आचार्य बार-बार इसको कहते नहीं तो जो उपदेश हो गया उससे से अधिक क्या होगा जितने उपनिषद जितने शास्त्र पुराण पढ़ो वही आत्म तत्व का उपदेश है त्रिगुणात्मिका माया है सो माया से सृष्टि कार्य प्रपंच मिथ्या है अद्वितीय तत्व है वही तत्व आप हो आप वही तो सत्यम स आत्मा तत्वमसि बस और कुछ ही नहीं इसी को ही बार-बार कहती श्रुति पुनः पुनराह स्वप्नांतम जागरितांतं चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति आत्म तत्व को जानने के लिए आत्म तत्व ब्रह्म कहते समय लगता है कोई दूर में कहाँ है आत्म तत्व हम तो है समझते हैं कि तो हमारा आत्म तत्व नित्य मुक्त है हमारा आत्म तत्व नित्य मुक्त बोलो तो वो कहीं उधर कहीं है अब ब्रह्म कहते समय लगता है कहीं बहुत बड़ा बहुत दूर में है ये कहते जान नहीं यही है अपने बुद्धि का बुद्धि को जानने वाला आपका स्वरूप आप बुद्धि को जानते हो जो बुद्धि को बुद्धि का साक्षी है वही आत्म तत्व है स्वप्नांतम जागृतांच उभो येनानुपश्यति स्वप्नांतम का तो स्वप्न मध्यम स्वप्न मध्य स्वप्न प्रपंच को जागृत प्रपंच को दोनों जिसके द्वारा दिखता है लोग को लोग तो इस प्रपंच के अंतर्गत देहादि कार्यक्रम संघात तो हो गया उसे विलक्षण दीर्घ रूप चेतन से जो जिससे जानता है वही महान है वही विभु है वही आत्मा उसको जान करके धीर विवेकी न सोचती शोक को पार कर लेता है शोक को प्राप्त नहीं करता है महानतम विभुम आत्मानम महान है व्यापक और विभु विभु है विविधम भवत्यस्मात् यदि विभु है जिस अनेक प्रकार कार्य जगत उत्पन्न होता है सबका अधिष्ठान ब्रह्म है वही आत्मा है उसको मत्वा ज्ञातवा साक्षात्कार करके अहम अस्मि ऐसे साक्षात्कार करने पर धीर विवेकी शोकों को प्राप्त नहीं करता है स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञेम इत्यर्थ स्वप्नांत का तो स्वप्न मध्यम सपने के मध्य में स्वप्न विज्ञे स्वप्न प्रपंच जो दिखता है जिसके द्वारा दिखता है येन अनुपश्यति तथा जागृतांतम जागृत मध्यम जागृत विज्ञम च स्वप्न प्रपंच जागृत प्रपंच दोनों को जिससे दिखता है उभौ उभौ का अर्थ स्वप्न जागृतांत हो स्वप्न मध्य जागृत मध्य स्वप्न प्रपंच जागृत प्रपंच ये दोनों को येन अनुपश्यति येन आत्मना जिस आत्मा से दिखता है लोक लोक कहन से देह कार्य कण संघात आत्मा को सब मिला करके चैत्र मैत्र आदि जो कहते हैं ये जड़ को भी नहीं कहते शुद्ध चेतन को भी नहीं कहते मनुष्य शुद्ध चेतन है या जड़ है जड़ भी नहीं है शुद्ध चेतन भी नहीं मनुष्य हो ब्राह्मण हो कर्ता भी इस प्रकार शुद्ध चेतन करता नहीं जड़ भी करता नहीं शुद्ध चेतन निष्क्रिय होने से करता नहीं है और जड़ भी करता नहीं होगा जड़ जड़ है क्या करेगा और सीधा कहेंगे जड़ कुछ नहीं करता इसलिए चेतन करेगा चेतन निष्क्रिय कैसे करेगा दो विभाग जड़ और चेतन जड़ करता है क्या बनाता है कुछ तो फिर कौन करेगा जड़ से बिना चेतन ही बचा जड़ घटपट आदि कुछ करता हुआ किसने नहीं देखा है चेतन करता है सबने देखा है देखा है ना शुद्ध चेतन कुछ करता है देखा है अपने जो उसको चेतन कह कर कहते उसमें कर्तृत्व मानो जिस चेतन ने आपने कर्तृत्व देखा है जड़ में नहीं देखा है तो जड़ में कर्तृत्व तो नहीं है ठीक है और जिस शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो आप कहते हो शुद्ध चेतन आपने नहीं देखा जिसको चेतन कह करके चेतन में कर्तृत्व तो देखा उसमें कर्तृत्व तो मानो शुद्ध चेतन देखा है घट बनाता है लकड़ी फाड़ता है भोजन बनाता है क्या करता है शुद्ध चेतन नहीं आपको तो देह दिखे क्या देह संगात संघात ओ देह इंद्र संघात है चेतन तादात्म्य को प्राप्त करके चिदाभास विशिष्ट इसको चेतन कहते उसमें कर्तृत्व मानो इसी प्रकार यहाँ भी देह कार्य संघात विशिष्ट को लोक शब्द से कहा ये लोक दिखता है कार्य संघात विशिष्ट चैत्र ब्राह्मण मनुष्य मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व शुद्ध चेतन में है क्या देवत्व शुद्ध चेतन में है मनुष्यत्व पशुत्व शुद्ध चेतन में है शुद्ध चेतन में मानेंगे तो अध्यस्त मानेंगे शुद्ध चेतन में नहीं है तो जड़ में है मनुष्यत्व देवत्व ब्राह्मणत्व इसको जड़ में है क्या जड़ में नहीं है जड़ में तो पत्थर मिट्टी मूर्ति बनाओ उसको मनुष्य पशु कहो नहीं होता है तो देह कार्यकरण संघात विशिष्ट चेतन को कहते हैं उसको लोक शब्द से कहा चेतन व्यापक है उसका आभास से देहादि में चैतन्य चेतनत्व का व्यवहार होता है तो जिसके द्वारा देखता है ये न आत्मना अनुपश्यति वो कार्यक्रम संघात लोक है वो देखता है आत्मा चेतन के द्वारा ही देखता है सर्वम पूर्ववत उसी का सब कुछ ज्ञेय है एक दीर्घ रूप चेतन है जो जागृत स्वप्न दोनों को जानने वाला जागृत प्रपंच में जो शरीर आपका है वो कार्यकरण संघात शरीर स्वप्न में नहीं रहता है सपने में क्या अलग शरीर बनता है जागृत शरीर तो शांत लेटा हुआ किंतु सपने में आप चलते हो दौड़ते हो अलग शरीर बन जाता है कल्पित शरीर वासनामय और सपने से जगने के बाद सपने शरीर जागृत कहा जाता है सपने पर टूट गया था गिर पड़ा जागृत उठने में क्या देखा क्या पर टूटा हुआ देखेगा कुछ नहीं स्वप्न सर जागृत को नहीं आता है जागृत सर स्वप्न को नहीं जाता है केवल सर नहीं सारा प्रपंच दोनों को जानने वाला एक ही व्यक्ति है स्वप्न से जगने के बाद कहता है मैंने स्वप्न देखा जो जगता है स्वप्न देखा था वही है दूसरे ने स्वप्न देखा और दूसरे जग कहता मैंने स्वप्न देखा दूसरे स्वप्न देखने के बाद आप कहते मैंने देखा जो ही स्वप्न दर्शा दृष्टा है वही जागृत में दोनों को जानने वाला एक चेतन है जो चेतन दोनों में रहता है जागृत स्वप्न दोनों में रहेगा वो दोनों प्रपंच से विलक्षण है जागृत स्वप्न दोनों प्रपंच से विलक्षण है जिस चेतन का अन्वय स्वप्न में जागृत में हुआ वही चेतन है सत और जिसका व्यतिरेक होता है शरीर का जागृत शरीर का अभाव स्वप्न में हो गया स्वप्न प्रपंच का अभाव हो गया जागृत में जिसका व्यतिरिक हो गया वो मिथ्या है जड़ है जो अन्य व्यतिरिक युक्ति के द्वारा जो हमेशा रहे यत्सा सर्वत्र सर्वदा वही श्रुति का भी साक्षी है जिसके द्वारा लोक देखता है चेतना वही आत्मा है तम महांतम विभुम आत्मानम न सोचति तम महांतम महान है व्यापक है विभू का अर्थ भी व्यापक होता है तो यहाँ विभू का अर्थ विविधम भवति अस्मात यदि विभु सर्वकल्पना अधिष्ठान विविधम अस्मात भवति यदि विभु जैसे विभिन्न कार्य होता है कार्य वास्तव नहीं होता है जैसे मरुह में जल दिखता है इसी प्रकार सारा प्रपंच दिखता है सारे प्रपंच कल्पना का अधिष्ठान है आत्मा विभु एक विभु का अर्थ कल्पना व्यापक है कल्पना अधिष्ठान वही आत्मा है वही आपका स्वरूप है आत्मा कह करके कोई अपन से भिन्न नहीं हमारे आत्मा हमारे माता कहते हैं जैसे हम अलग हमारा आत्मा कोई अलग हो वही आत्मा वही आप है उसको मत्वा मत्वा कहता अवगम्य जान करके किस प्रकार जान करके वह असौ तद ऐसा नहीं आत्मभावेन आत्मत्वेन अहम अस्मि साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति अहम अस्मि परमात्मा अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म सद परमात्मा सद कुछ भी कहे वाच्यार्थ होता है ईश्वर माया विशेष चेतना किंतु वाच्यार्थ के साथ जीव की एकता नहीं होती है जीव अल्पज्ञ है और तत्पद ईश्वर पद परमात्मा ब्रह्म सब का वाच्यार्थ ईश्वर है जो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ अल्पज्ञ एक नहीं हो सकता है इसलिए लक्षणा करके परमात्मा शब्द का अर्थ शुद्ध चिन्ह चिन्ह मात्र चेतना वही अहम त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ है एक ही दृग रूप चेतन है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि भगवान कहते ही क्षेत्रज्ञ है एक ही दृग रूप चेतन है एकमेव अद्वितीय सदैव समिदम ग्रासित एकम एव अद्वितीय कह करके जिसमें स्वगत सजात्य विजात्य भेद नहीं ऐसे दृग रूप चेतन सारे कल्पना का अधिष्ठान वही आत्मा है विभु कह सर्व कल्पना अधिष्ठान है वही महान है और आत्मा महानतम आत्मानम आत्मा के साथ महान का है आत्मा ही महान है इसलिए जो लोग अनुर कहते उनका खंडन श्रुति से हो जाता है कोई कहे नहीं आत्मा तो परमात्मा को कहा गया या विभू हो जाएगा किंतु जिससे जागृत स्वप्न को देखता है लोग जागृत स्वप्न का जो दृष्टा है वही आत्मा है जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच को आप देखते हो या परमात्मा देखता है परमात्मा देखता है आप तो नहीं देखते हो ना तो देखता है जागृत प्रपंच सपनों को देखने वाला जो आत्मा वही महान है जागृत और सपन दोनों को देखने वाला जो आत्मा है आप अब देखते हो जागृत स्वप्न दोनों को या एक को दोनों को देखने वाला आत्मा है वही महान है तो आत्मा का परिमाण छोटा होगा ना अनुपरिमाण परमाणु जैसे महान है व्यापक है वही विभु है उसको जान करके धीर विवेक न सोचती साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति धीरो न सोचती धीर का अर्थ पहले कहा कच्चित धीर प्रत्येगात्मा न मैचत वही धीर है जो प्रवाह से बहना जा वही नहीं जाता है सत सत विवेक करने वाला धीर विवेकी उसको साथ जान करके शोक नहीं करता है किंज य इमं अध्वदं वेद आत्मानं जीवमंतिकात ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् य वेद इमं आत्मानं पुलिंग है इस आत्मा को जो मध्वदम मधु अत्तिति मध्वद मध्वद मध्वत अध धातु से मधु है मधु के जैसे कर्मफल को भोगने वाला मध्वदम कर्मफल भोगने वाला मधु कहा जैसे मधु बड़ा मीठा लगता है ऐसे कर्म फल बहुत अच्छा लगता है मधु खाते समय मधुमक्खी का मारने पर खुश लगता है ना <laughs> वो जिस प्रकार इसे कर्म फल भी कभी-कभी ऐसे चोट लगाता है जैसे मधु जैसे मधु चाटता है मधुमक्खी का ऐसे मधुमक्खी का बहुत प्रकार है ऐसे मधुमक्खी का है मारेंगे तो कितने कष्ट होगा सामान्य नहीं छोटे-छोटे होते काटने में थोड़ी देर में जाता है कोई कोई बड़े-बड़े मधुमक्खी का है वो पीछे पड़ जाएंगे तो बचना मुश्किल है ऐसे मधुमक्खी का इतने पीछे पड़ जाए तो मारेंगे तो एक काटेगा तो मुश्किल है और जो दस पचास पीछे दौड़ेंगे बड़ा मुश्किल है उसको बचने के लिए कहते हैं सिर के ऊपर गोबर आदि कुछ रखो जो सूखे गोबर है को कपड़ा आदि रखो उसको काटेंगे जा के तालाब आदि में पानी में डूब जाओ डूब करके जाकर दूर में निकलो पास में निकलेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे दूर में निकलो और ऊपर उसको मारते छोड़ेंगे नहीं जो ऊपर कपड़ा आदि कुछ है ना उसको मारते रहेंगे ऐसे ऐसे डूब करके जाकर उधर निकलो तो यदि वहां नहीं पहुंचे तब चलो नहीं तो बड़े कष्ट देते हैं इसलिए मधुअदम कर्मफल मधु जैसे फल को भोगने वाला मधु भी चाटता है और मधु खाने वाला मधुमक्षी का का चोट भी ग्रहण करता है इसी प्रकार ये कर्म फल भोगता है सुख तो भोग करता है और जो दुखी होता है तो रोता है जन्म मृत्यु तो जरा व्याधि अपने मरने पर तो रोता नहीं दूसरे कोई मर गया तो रोता है और मरने के पहले इतने कष्ट होता है रोने से भी रोने के लिए भी सामर्थ्य नहीं रहता है मृत्यु के समय में इतने कष्ट होगा रोने के लिए भी थोड़ा सामर्थ्य चाहिए <laughs> रो नहीं सकता है जब कहीं जब जोर से धक्का लगा पड़ जाता है छटपटाता है और रोने का कहाँ उसके बल है इसी प्रकार है मध्वधम का अर्थ कर्म फल भोगने वाले वही कर्म फल भोगने वाले जीव है और जो जीव कर्म फल भोगता है वही उपाधि के कारण अपने को भिन्न मान करके देहादि में हम बुद्धि करता है देहादि के कर्मों को अपने में आरोप करता है उसको भोग करके सुखी दुखी होता है और यदि वास्तव अपने स्वरूप को जान लेता है तो मुक्त हो जाता है कर्म पर तो भोग करता है अज्ञान के कारण किंतु वास्तव वही आत्मा है जो मध्वद है वही आत्मा है वही जीव है आत्मानम जीवम अंतिकात आत्म शब्द से पहले ये आत्म शब्द से परमात्मा लेंगे तो परमात्मा जीव से अलग नहीं एक अद्वितीय आत्मानम जीवम और आत्मा शब्द से जब जीव ले लिया तो जीव महान है विभु है अणु नहीं है श्रुति स्पष्ट कर देती है केवल पक्षपात करके अपने मतों को ले करके कोई बैठा है तो उसमें ही सारा जीवन बर्बाद कर देगा श्रुति प्रमाण से तत्व वास्तव सत्य को जानने का प्रयास करे जो आत्मा है वो विभु है महान है वही आत्मा को जीव कहा और जीव को जानता है जो इसको कर्म फल भोगने वाला उसको जानता है जो कर्म फल भोगने वाला वो तो अपने को सब जानते हैं मैं कर्म फल भोग मैं करता भोगता उसको कैसे जानेगा अंतिकात तो अंतिकात तो क्या तो समीप सामीप्य सामीप्य क्या है वही मैं हूं जो आत्मा विभु महान है सारे बुद्धि का साक्षी है प्रतिबोध विदितम सो ही मैं हूं और वो कौन है अंतिका जानेगा ईशानम भूत भव्यस्य भूत अतीत भव्य भव भविष्यत वर्तमान सबका शासन ईशान सबका ईश्वर है वही ईश्वर है ब्रह्म जो आत्मा है कर्म फल भोगने वाला वही भूत भव्य का ईशान ईश ऐश्वर्य ईश्वर बनता है शान से करेंगे कर्तव्य ईशान बनेगा जो ईश्वर है भूत अतीत तीनों काल का भूत काल त्रय का जो ईश्वर है उसको जानता है अहम अस्मिन अंतिकात अंतिकत का था ऐक्यन अभेदेन यहाँ सामीप्य का था अभेदेन नहीं कि मैं बैठा हूं और पास में महात परमात्मा ऐसा नहीं क्योंकि वही एक ही जो आत्मा है वही ईशान है भूतम अव्यम जो आत्मा पहले कर्म फल भोगने वाला वही भूत अव्यय का ईशार ईश्वर है उसको जानने पर न ततो बीजुगुप्सते उसको जानने पर और किससे रक्षा करना भय से नरक पात हो जाएगा आगे क्या हो जाए उससे रक्षा करने के लिए कोई आगे कुछ रक्षा करने के लिए अब भय नहीं कुछ भय जब तक रहता है सम डरता है कैसे बचे कैसे रक्षा करे उसके बाद तुम इच्छा गोपो रक्षणे न बीजी गुप्सते इच्छा करता नहीं जा भय के नहीं है अभय हो जाता है एतद वितत वही आत्म तत्व तो यह है जो तुमने पूछा था यमराज कहते नचिकेता को यह इमम अद्भुतम वेद यह कौन से कौन होगा यह कश्चित कोई भी हो कोई भी कहता मनुष्य ही जो मनुष्य जान सकता है देवता भी जान सकते कोई भी मनुष्य जान सकता है वेद पढ़ने के लिए कर्म करने के लिए राजस्व बृहस्पति सब आदि याग है करने के लिए सब अधिकार नहीं है ब्राह्मण श्रेष्ठ होने पर भी राजस्व याग नहीं कर सकता है बृहस्पति सब ब्राह्मण कर सकता है क्षत्रिय जितने राजा सम्राट हो बृहस्पति सब नहीं कर सकता है कर्म करने के लिए वेद पढ़ने के लिए किस कर्म के लिए कौन अधिकारी ये विचार आता है किंतु परब्रह्म को जानने के लिए साक्षात्कार करने के लिए सबका मनुष्य मात्र का अधिकार है हाँ कोई वेद पढ़ करके कोई स्मृति पढ़ करके कोई अन्य से सुन करके ये अपशुद्र अधिकरण ब्रह्मसूत्र में आया जहाँ शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं करके निर्णय किया गया वहाँ कहा गया उनको स्मृति से आदि से भी ज्ञान हो सकता है ज्ञान का निषेध नहीं है यह कश्चिदिम मध्वदम वेद जो कोई भी जान सकता है अत्यंत भक्ति वैराग्य दृढ़ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए अंतकोण शुद्ध हो जाता है तो ऐसे गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह कश्चित यह इमम मध्वद इमम इम आत्मानम अध्वदम कर्म फल भोगने वाले जीव है जीव प्राण धारणे जीव धातु से बनता है जीव इति जीव प्राण धारण करने वाला प्राण इंद्रिय आदि समुदाय धारण करने वाला प्राण आदि कलाप से धारयितारम वही प्राण धारण करने वाला जीवात्मा है आत्मानम वेद विजानाति जानता है वही जीव ही ईशान भूत भव्यस्य जो जीव आत्मा वही ईश्वर है श्रुति स्पष्ट करती है बीजानाते अंतिका का अंतिके अंतिके समीप समीप का अर्थ समीप में अत्र अभेद है अभेदन भेद अहम अस्मि ईशानम भूत भवस ईशान का दीशितारम ईशा ईश्वर है सब का ईश्वर है भूत अतीत का भविष्यत का वर्तमान का काल त्रयस्य तीनों काल तीनों काल में होने वाले सब का शासन करने वाले परमात्मा वही आत्मा है वही जीव है ततस् तद विज्ञानाद ऊर्ध्वम न बीजगुप्सते ज्ञान होने के बाद आत्मा न बीजगुप्सते बीजगुप्सते रक्षा करना चाह नहीं चाहता आगे जब तक भय में है तब तक रक्षा करना चाहता है न गोपाई तो इच्छेद आगे रक्षा क्यों नहीं करेगा अभय प्राप्त तो आद अभय को प्राप्त कर लिया भय है तो भय से रक्षा करना चाहेगा अभय को प्राप्त कर लिया भय है ही नहीं किससे रक्षा करना चाहेगा बाकी नहीं तो भय क्या करता है भय करता है नरक पात आदि का भय अत्यंत बहिर्मुख समझ नहीं सोचता है क्या नरक है नहीं मानता है इसी प्रकार किंतु समय आने पर मानना पड़ता है नहीं मानेंगे तो यम यमराज के दूत है लोहे के बड़े-बड़े लाट दंड लेकर खड़े हैं जो नहीं मानता है उसको दो चार प्रहार दे देंगे सिर चुर हो जाएगा कहे हां हां मुंचा मुंचा छोड़ो छोड़ो नहीं मानता है उसमें सब मानेंगे फिर हाथ जोड़ के पैर पकड़ेंगे अभी छोड़ दो अभी ऐसा नहीं कहेंगे तो ये ही भय नरक पात आगे भी बहुत प्रकार भय जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय है अभय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता आगे भय नहीं करता तो अपने रक्षा क्या करे किससे रक्षा करेगा भय कोई है तो रक्षा करना चाहिएगा तब अभय को प्राप्त कर लेता है इसे आत्मा को जान करके एतद वेथत वही आत्मा है जो तुमने पूछा था तुम्हारे स्वरूप तुम ही हो यावद्धि भय मध्यस्तु अनित्यम आत्मान मन्यते तावद गोपायितम इच्छति आत्मानम जब भय मध्य में स्थित है आत्मा को अनित्य मानता है मर जाऊंगा मरण हो जाएगा आत्मा को अनित्य मानता है आत्मा का मरण नहीं होता है देहादि समाप्त होता है किंतु डरता है मर जाऊंगा मृत्यु से सब डरते हैं मृत्यु से डरते अभाव हो जाए करके नहीं तो मृत्यु के समय इतने कष्ट होता है वो अनुभव क्या मरण के समय में क्या कष्ट है किसने अनुभव किया है नहीं क्या इसी जन्म में अनुभव नहीं किया अनादिकाल में से कितने बार मरण का अनुभव करके आया इसलिए मरण के नाम से डरते हैं इसी जन्म में कष्ट नहीं अनुभव किया तो भी क्यों डरते हैं इतने कष्ट भोगा है मृत्यु के नाम से डरते हैं छोटे-छोटे बच्चे भी कहीं गिर पड़ेंगे तो कांपते हैं डरते हैं और मृत्यु के नाम से डर बहुत लोग कहते मर जाए तो आशा कहते किंतु अंदर सोते जीवित रहना चाहिए मरना नहीं चाहते दूसरे को सुनाते हैं किंतु सोते कि और 10 20 साल तो रहेंगे मरने वाला हो गया सोचता है थोड़े दिन तो रहेगा कम से कम थोड़े दिन तो रहना चाहिए इसे करके मृत्यु के नाम से डरते हैं जब तक इसे संसार देह को अनित्य मानता है अपने को तावत गोपायित तो मिच्छते आत्मानम रक्षा करना चाहता है जब निश्चय हो जाता है मैं नित्य कालत्रय परिच्छन तीनों त्रिकाल परिच्छन नहीं उससे अतीत हूँ हूं यदा तु तो नित्यम अद्वैतम भी विजानाति नित्य है अद्वितीय आत्मा मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं भय तो अपने से भिन्न से होता है द्वितीयाद्वे भयम भवति द्वितीय से भय होता है अपने से भिन्न कोई नहीं तो किससे डरेगा तो कोई कहते अकेले रहेंगे तो डर लगेगा अकेले रहेंगे डर नहीं लगेगा पूरा ऋषि के समय कोई नहीं है अकेले आप रहोगे इधर देखो उधर देखो जहाँ देखो कोई नहीं है डर लगेगा ना नहीं अज्ञान के कारण डर लगता है द्वितीय कोई है ही नहीं तो भूत प्रेत से डरेंगे बाहर कोई नहीं तो भूत प्रेत कुछ ना कुछ डर लगेगा दरवाज़ा बंद है बड़े मकान के अंदर रहते बड़े बड़े लोग भी डरते हैं कहीं चूहा कोई आवाज कर दिया <laughs> ये डरेंगे आ गया प्रेत भूत प्रेत आ गया जो भूत प्रेत नहीं मानते वो भी डरते हैं अन्य समय कहीं भूत प्रेत कुछ प्रमाण नहीं है किंतु बड़े मकान में उनको रख दो पर बिल्कुल बड़े-बड़े मकान बड़े-बड़े ताला दरवाजे बंद कोई बाहर से आने का भय नहीं तो अकेले रखो कितने दिन से कितने समय रहेंगे बड़े डर है ये भय रहता है द्वितीय द्वै भयम अद्वितीय निश्चय हो गया मैं नित्य अद्वितीय आत्मा हो गया तो कौन भय करेगा किससे भय करेगा क्यों भय करेगा अरे रक्षा क्या करेगा किससे अद्वैतम आत्मान बिजानते तदा किं कह कुतोवा गोपाय तुम इच्छेद कौन रक्षा करना पड़ेगा किसकी रक्षा करना पड़ेगा और किससे रक्षा करेगा कह किं कुतः कह गोपाय तुम इच्छेद कर्ता का आक्षेप कौन है इच्छा करना रक्षा करना चाहेगा कौन है निष्क्रिय आत्म तत्व है और कुछ नहीं जो ज्ञान हो जाता है अहम अस्मिन परम ब्रह्म निष्क्रिय आत्मा में हूं आगे कुछ इच्छा नहीं और किसकी रक्षा करना चाहेगा आत्मा ज्ञान होने से आत्मा से बिना कुछ भी नहीं किसकी रक्षा करना है जिसके पास धन है चोर लेगा कर डर लगेगा जिसके पास धन नहीं वो चोर से क्यों डरेगा चोर आए तो वह आ जाओ तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो हमको थोड़ा दे दो जिसके पास नहीं साधु क्या करेगा साधु के पास चोर आएगा तो क्या बोलेगा हमको भूख भूख लगती कुछ खाद्य है तो दे दो तो किससे डरेगा इसी प्रकार में अद्वितीय आत्मनिश्चय हो गया तो किसकी रक्षा करना चाहेगा किम गोपायित मिचेत और किससे रक्षा करना चाहेगा कुतोवा कौन भय का कारण है किंग कह कुतह कह करके भय रक्षा करने वाला रक्षा जिसकी की जाए और किससे रक्षा करना कुछ नहीं आक्षेप कोई है ही नहीं गोपायित ए एतद वितत पूर्व पूर्वपमत यही पहले जैसे नचिकेता ने पूछा था जो देवादि को संदेह है यही हम प्रेत विचिकित्सा अन्यतर धर्मात अन्यतर धर्मात कार्य का कारण सबसे विलक्षण आत्म तत्व ही है वही आत्म तत्व है जो आत्म तत्व है एक अद्वितीय है जो जीव रूप से दिखता है वही ईश्वर है वही आत्म तत्व है इसको जानने पर ही साक्षात अहम अस्मि ऐसा परोक्ष ज्ञान होने पर ही शोक की निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्ति होती है यह प्रत्येगात्मे ईश्वर भाव न निर्दिष्ट स सर्वात्मी तदर्शयति पूर्व मंत्र में प्रत्येगात्मक ईश्वर रूप से दिखाया जो आत्मा जीव है कर्मफल भोग करता है वही ईशानम भूत भव्यस्य इस मंत्र में स्पष्ट कर दिया जो जीव आत्मा वही ईश्वर है प्रत्येगात्मा ईश्वर रूप से कहा गया पूर्व मंत्र में जो प्रत्येगात्मा ईश्वर रूप से कहा गया वो प्रत्येगात्मा सबका अलग-अलग नहीं है स सर्वात्मा सर्वेशम आत्मा सर्वात्मा के सब एक ही उससे भिन्न कुछ भी नहीं तभी तो अद्वितीय आत्मा होगा उससे भिन्न आत्मा मानेंगे तो अद्वैत नहीं होगा एक में स्वगत सजाते बिजाते भेद रहित अद्वितीय सर्व का आत्मा हुई है इसको दिखा दी श्रुति यह पूर्वम तपसो पूर्व अजात गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो व्यपश्यत एतद वेतत यह पुरम तपसो जातम तप से उत्पन्न हुआ ज्ञान यस्य ज्ञानमयम तप ज्ञान आदि तप से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भे अद्भ्य पूर्वम अजायत अद्भ्य अद्भ्य बहुवचन से केवल जल नहीं पांच भूत से पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ पांच भूत से पहले अपंचीकृत भूत के पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है हिरण्यगर्भ बनेगा अपंचीकृत भूत के पहले हिरण्यगर्भ होगा अपंचीकृत भूत उपाधि के हिरण्यगर्भ होता है ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र अंतकण प्राण बनने के बाद ही समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी होता है हिरण्यगर्भ अपंचीकृत भूत बनने के पहले हिरण्यगर्भ होगा इसलिए यहाँ भूत शब्द से पंचीकृत भूत ना पंचीकृत भद जल आदि पंचीकृत से पहले जन्म होता है गुहाम प्रविशति स्टंतम बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहता है यो भूते भी व्यपश्यत भूतों के भूत के भूतों से भूते भी से प्रयोग भूते भी अतो विषय भूते ही होया भूते भी भूतों से बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट है भूत के साथ भूत के साथ प्रवेश करके तिष्ठंतम उसको जो दिखता है भूत के साथ प्रवेश कैसे भूत के साथ स्थित है भूत स्वयं भूत रूप से नहीं कार्य कण से परिणत भूत के साथ शरीर इंद्रिय रूप से स्थित भूत के साथ रहता है बुद्धि रूप गुहा में स्थित है शरीर इंद्रिय युक्त होकर के इसको जो जानता है आत्म तत्व को जो जानता है वही प्रकृत ब्रह्म को जानता है हिरण्यगर्भ भी आत्म तत्व है कोई अलग नहीं है वो सर्वात्म को बताने के लिए जो हिरण्यगर्भ भी वह भी आत्म तत्व है जो आपका स्वरूप जो ही ब्रह्म है वही हिरण्यगर्भ है सर्वात्म कहे यह कश्चित पुरम तपसो जातम पश्यति सप्रकृतम ब्रह्मेव पश्यति संबंध पश्यति इति संबंध ये उसका अन्वय करना वो ब्रह्म को ही जानता है वही ब्रह्म जो कोई तप से जात पहले तप से उत्पन्न हिरण्यगर्भ उसको जानता है वो प्रकृत ब्रह्म को ही जानता है वही ब्रह्म है भाष्य में यह कश्चित मुमुक्षु हो मुमुक्षु ही जानेगा अन्य को क्या चिंता है क्या जरूरत है जो मोक्ष चाहता है वो सत्य अन्वेषण करता है जानना चाहता है वही जान सकता है प्रमाद से इसे काम ख्याल से नहीं होगा श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय जो मुमुक्षु है वही जान सकता है पूर्वम प्रथमम जाते है तपसो जात तप से कहा था ज्ञान आदि लक्षणाद ब्रह्मणि तेतस ज्ञान आदि स्वरूप तप से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उत्पन्नम हिरण्यगर्भम किसके अपेक्षा पूर्व जन्म हुआ किम अपेक्षा पूर्वम तो अद्भ्य जल से पूर्वम जल से पूर्व मतलब अप पूर्वम अपसहितेभ्य पंचभूतेभ्य न केवल अद्व्य इति अभिप्राय जल है केवल जल से नहीं जल सहित पांच भूत से पांच भूत में टिप्पणी में दे दिया है पंचीकृतभ्य पंचीकृत पांच भूत से उत्पन्न होता है हिरण्य सूक्ष्म सर पर बनता है उसके बाद पंचीकरण होता है फिर पंचीकृत भूत होता है पंचीकृत भूत के पहले अपंचीकृत भूत उपाधिक हिरण्य हिरण्यगर्भ पंचीकृत भूत के पहले जन्म होता है उत्पन्न निष्पन्न हो गया हिरण्यगर्भ न केवल अभ्यद्वैत अभिप्राय अजायत उत्पन्न यह तम प्रथम जम जो इस प्रथम जो हिरण्यगर्भ को जानता है देव प्रथम जो कैसे हुआ देवादि शरीराने उत्पाद्य देवादि सर्व उत्पत्ति के पहले हिरण्यगर्भ हुआ समष्टि देवता उत्पाद्य सर्वपाणी गृहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम वही देवादि सर्व उत्पन्न करके सर्व प्राणी के हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट होकर रहता है तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करके वही प्रविष्ट होता है उसका विचार आता है उपनिषद में पर ब्रह्म व्यापक है तदुपाधि के हिरण्यगर्भ भी वो देह व्यष्टि छोटे-छोटे सर्व बनाकर उसमें प्रविष्ट होगा प्रवेश तो अप्रवेश अप्रविष्ट का प्रवेश होता है परिचिन्न का प्रवेश होता है परिचिन्न में अप्रविष्ट देश में अप्रविष्ट व्यक्ति का परिचिन्न परिचय प्रवेश होगा घट बनाएंगे घट के अंदर जल का प्रवेश हो सकता है जल परिचिन्न है घट लेकर के जल रखा पानी पीने के लिए ये तो होगा घट बनने के बाद घट के अंदर आकाश रहेगा नहीं रहेगा उसका प्रवेश के कुलाल प्रवेश करके देता है आप ला करके प्रवेश करना पड़ता है घट जब खरीद कर लाओगे पहले आकाश भरना उसके बाद पानी भरना या पानी भरने के बाद आकाश आ जाता है साथ साथ या कुलाल आकाश भर करके देता है क्या है कुलाल जो घट बनाएगा फिर आकाश भर कर बिक्री करता है आकाश पहले से है ही घट की उत्पत्ति के समय भी आकाश है आकाश का प्रवेश नहीं होता है या पानी भरेंगे तो आकाश निकल जाएगा वो भी नहीं होता है व्यापक होने से इसी प्रकार आत्म तत्व तो हिरण्यगर्भ आत्मा व्यापक है ये देह से अलग-अलग बनेंगे तो उसके बाद प्रवेश होगा कहां आत्म तत्व तो पहले रहेगा बाद में शरीर में प्रविष्ट होगा परिच्छिन्न शरीर में प्रवेश कैसे होगा व्यापक का वस्तुतः तो प्रवेश में तात्पर्य नहीं है प्रविष्ट प्रविष्टवद उपलभ्यते जो इसी सभागृह में प्रविष्ट है उस यहां दिखते हैं कोई व्यक्ति कहेगा आप आप तो आज पाठ में आए थे सभा में गृह में सत्संग घर में आपको देखा था कोई कहे नहीं मैं नहीं गया था नहीं आपको मैं देखा था जिसको देखा है आप अभी दिखते हैं उनका प्रविष्ट हुआ ना नहीं जो दिखता है उसका प्रविष्ट हुआ आत्म तत्व की उपलब्धि देह में होती है यह प्रविष्ट कह दिया आत्मतत्व तत्व की उपलब्धि बुद्धि रूप गुहा में होती है इसलिए प्रविष्ट में कहा गया प्रविष्ट का ही तात्पर्य जो जहाँ दिखता है कमरा छोटे स्थान में अवश्य वहाँ प्रविष्ट है प्रविष्ट नहीं तो कैसे दिखेगा कोई कहेगा नहीं था आप नहीं मानोगे आप में दिखा आप थे उसमें जरूर प्रविष्ट थे इसी प्रकार आत्मा की उपलब्धि होती है आत्मा व्यापकत है सर्वत्र क्योंकि जब उपलब्धि होती है बुद्धि में ही उपलब्धि होती है क्योंकि बुद्धि का साक्षी दृष्टा है बुद्धि में स्थित है व्यापक होने से सर्वत्र है बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है उसमें अभिव्यक्ति उपलब्धि होने से प्रविष्टवत उपलभ्यते प्रवेश में तात्पर्य नहीं है प्रविष्ट जैसे दिखता है तो यहाँ प्रवेश करके रहता है यह भूते भी व्यपश्यत भूत से कार्य रूप से टीका में भाष्य में पंचभूतेभ्य न केवलाभ्य अजायत उत्पन्न यश तम प्रथमजम देवादि शरीर को उत्पन्न करके सर्व प्राणी गुहा में हृदयाकाश में प्रवेश होकर रहता है प्रवेश तिष्ठंतम प्रवेश करके रहता है शब्दादि उपलब्धवान वही शब्दादि उपलब्ध करता है द्रष्टादि स्थित है अंतकण आदि उपाधि से युक्त होकर के रूप रस घटपट आदि का ग्रहण करता द्रष्टा भूते भी भूते ही कार्य करना लक्षण ही शरीर इंद्र रूप से युक्त होकर के रहता है सतिष्ठंतम यो व्यपश्यत या पश्यति जो जानता है य एवं पश्यति स एतमेव पश्यति यत तत् प्रकृतम ब्रह्म जो इसको जानता है वह ब्रह्म को ही जानता है वही ब्रह्म है टीका में दिया अद्वय पूर्व इत्यादिना हिरण्यगर्भस्य विशेषण अंतकरणांसेन जीवावच्छेदकत्वात् जीव तादात्म्य विवक्षा विशेषणं शब्द उपलभमानम इति वही जीव बन करके वही ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ रूप से जीव रूप से उपाधि के कारण प्रविष्ट होकर के उपलब्धि करता है उसका स्पष्टीकरण है उपाधि के कारण वह अंदर में प्रवेश और शब्द आदि की उपलब्धि करता है इसे स्पष्ट किया वही एक अद्वितीय तत्व सर्वत्र है तभी अद्वितीय आत्मा होगा वही सर्वात्मक है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ओम सहना भवतु